श्री ने बताया कि पुरुषोत्तम दास टंडन हो गए उन्होंने इस बार जो है वो हो शहर में इलाहाबाद में रहते थे शहर में तमाम भीख मांगने वाले तो सब जगह सरपंच गए और जहाँ जहाँ भीख मांगने वाले मिले उनसे कहा दिन चलो तुम काल भीख मांगते तो तुम्हारे खाने का इंतजाम हम कर देंगे तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा कपड़ा नहीं मिल रहा उसका इंतजाम तुम्हें तो करते हैं चलो तुम्हें रहने का स्थान देंगे खाने कर देंगे कपड़े तुमको देंगे तुम चलो कहा चलो चलो चलो आ गए सब लोग लगभग चालीस पचास इकट्ठे कर दिए सर उनका लड़का भी था प्रसन्न संगम का उसके क्या लड़के से कहा कि बंदे भी उनको रहने का इंतजाम करो उनको ये सर्वेंस पात्र वगैरह नहीं सबने और उनको खाने का इंतजाम करो खाना बनने लगा पचास आदमियों को खाना रोज उनका आदमियों का उनका बने उनका खाना बना खाना दिए गया उनको कम्बल दिए गए कपड़े दिए गए उनको सब इंतजाम किया गया आप कहा गया लेकिन जंगल बैठे रहे तो कुछ करो आपकी बताओ क्या करें बताओ क्या करें आप उनको कुछ काम बताया जाए कि भाई कुछ न कुछ काम करो सदैव खुर्पी दो गोलो पौधे लगाओ पानी सींचो बंदे के आस पास तो में कुछ काम करो या और किसी प्रकार का लकड़ी उकड़ी का काम और कोई दूसरी तरह का बनाना बनाना कुछ भी कारा कुछ कहीं कोई काम कोई न कोई जो काम कर सकते हो तो काम करो उनको काम बताया गया जहाँ उनको काम बताया गया तो बस उसमें से एक एक करके खिसकने लगा हम्म। और बातें क्या करने लगे अरे साहब ये लाए थे कि हम तुम्हें खिलाएंगे अपने कपड़े देंगे और चार दिन में ताजा ठंडे हो गए अब कहते हैं कि काम करो बताओ जब हम काम करें तब जो देंगे तो क्या रहने थे इससे तो हम वहीं पर सीखते अपने बीच नाम लेते थे और इससे ज्यादा तो हमें वहां खाने को मिल जाता था इससे ज्यादा तो वहां कपड़ा मिल जाता था क्या फायदा यहाँ पर देखो ये बुद्धि इस प्रकार की जो उनकी लोग वो महीने भर में सब एक नहीं बचा रहा लोग बात तो कैसे सोचते रहते हैं कि देश में बड़ी गरीबी हो और भूख मांग रहे हैं इनको कहीं व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन अगर कहीं डॉर्मेटरी वगैरह इस प्रकार की भिखारियों के लिए बनाई जाए रहने का इंतजाम किया जाए तो रहने को तैयार हो बम्बई में तो पता चला एक व्यक्ति को भीख मांगते थे उसने तो वहाँ बताया अरे साहब यहाँ पर तो भीख मांगने का बहुत भारी धंधा है बम्बई में बड़े बड़े धंधे चलते हैं उसमें भीख मांगने का भी एक बहुत बड़ा धंधा है और धंधे के माने क्या है यहाँ पर ऐसे लोग जो है जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं दस दस मंजिल की और उनके मालिक हैं वो लोग भिखारियों को अपने अंदर में रखते हैं और भीख मंगवाते हैं उनका फैक्ट्री भीख मंगवाना काम उनका कहते हैं उनसे पूछे तुम क्या व्यवसाय तुम्हारा तो बताएंगे भीख मंगवाते हैं तो वो लड़के वड़के पकड़ करके लाते हैं घुटने को पकड़ करके लाते हैं हाथ पर उनके तोड़ते हैं उंगलियां काटते हैं पैर काटते हैं फिर उनको इस प्रकार से बनाते अंडा बनाते हैं और फिर उनसे दूध मंगवाते हैं और दूध जितनी आती सभी इकट्ठी करके कलेक्ट उनके पास होती है सुबह शाम उन्हें खाना दिया जाता है कपड़ा उन्हें मतलब चले पहना करके जैसे दूध मांगने लायक होते इस प्रकार के उनको दिए जाते हैं और भागने नहीं पाता जबरस्ती करके उनके अंदर में रखा जाता है जबरस्ती भी मंगवाई जाती है और ये लोग जिस भिखारियों को पैसे से उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाया क्या क्या होता है जैसे पता चलता है कैसे कैसे चलता कहते हैं कि सब जात के जारी है ममता इस प्रकार के जरिए जीव तथा संसार में ईर्षा पर साक्षर लोलता और सब जो दुर्गुण मानसिक दुर्गुण सब ईर्षा है ईर्षा में ईर्षा पर सर मैंने परुष वचन बोलना अक्षर माने बाणी वचन परुष वचन कठोर वचन बोलना और लोलुपता लोलुप मैंने धन लोलुप विषय ले लो मैंने कामना आपसे ग्रसित होना और तृप्ति न होना उनसे ये ले लिखता हूँ और भरी पूरी वही मैंने ये सब यही भरा पूरा ईर्षा को भरी हुई कठोर वचन बोलना उनका कोई बात प्रिय है और ले लिखता ये बहुत उनको जो है वो <clears throat> भरी उनके मन में और कहते हैं समता विजता और उनका समस्त भाव तो उन्हें कभी रही नहीं गया विषमता उनमें विषम भाव <clears throat> विषम भाव के मैंने ऊंच नीच का भाव भले बुरी का भाव ये सब सबके साथ में इस प्रकार का है कि तो सबने परमात्मा की दृष्टि देते हैं सब एक समान है इस प्रकार रखे क्षमता अरे तो कहा क्षमता कहाँ हो सकती है क्षमता की बात है क्षमता कैसे हो सकती है तो सब सब <clears throat> सब कोई ऊंचा है कोई नीचा है कोई भला है कोई बुरा है कोई संभान पाई तो सके थोड़ा हो जाएंगे जो क्षमता हो जाए तो जो कहते हैं वो है इस प्रकार है तो उसको माननी पड़ेगा इस प्रकार की क्षमता की बात है क्या ऐसे करके जब वो हो क्षमता को कोई स्वीकार नहीं करेगा क्षमता को स्वीकार कोई ऊपरी ऊपरी देखने क्षमता थोड़ी अब स्त्री पुरुष की विषमता है ये जाने जाने की विषमता है ये तो विषमता ऊपर दिखाई देती कैसे क्षमता मान रहे तो जब तक ये व्यक्ति का चित्त गहराई में न जाए परमात्मा भाव जब तक न आए तो परमात्मा ही समय विद्यमान है ये देखने के सामर्थ्य जब तुम्हें न आए तब तक क्षमता का कर सकती और क्षमता की क्षमता की गहराई तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को ये जब ईर्षा प्रसाक्षर लोलुपता ये सब होगी तो कहाँ क्षमता के तक पहुंच सकता है ईर्षा का मैंने क्या ईर्षा का मैंने भेद बुद्धि होगी तभी ईर्षा होगी समत बुद्धि होगी तो ईर्षा हो जाएगी तो ये है कठोर तो वचन बोलेगा तो फिर शंका आ जाएगी तो कठोर वचन बोलेगा ये तो विषमता के प्रवृत्ति तो में भरी हुई तभी कठोर वचन बोलेगा लोलुपता जब तुम्हें होगी तो वो होगी विषमता का है क्षमता होगी ये जहाँ ये क्षमता को प्राप्त करने में सब बाधक है ईर्षा है कठोर वचन है लोलुपता है जगह प्रसाद है अहंकार है दम्भ है ये सब के सब ये विषमता उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के चित्र में ये कोई समत्व बुद्धि लाने वाले नहीं है इसलिए कहते हैं व्यक्ति में क्षमता आ जाए ये तो कहाँ रखती है जैसे जैसे न न शीतलता है न विचार है न संतोष है इसी प्रकार से क्षमता भी नहीं लोग वियोग विशोक है अब देखो इसी का परिणाम क्या है जो सब लोग जो है वो विशोक है विशेष शोक से पीड़ित है सब शोकाकुल रहते हैं सब रोते रोते रहते अब योग योग के मैंने जो योग न होना योग मैंने दुख का एक रूप है जैसे कोई मर गया तो उसका दुख हो गया किसी की संपत्ति चोर लूट ले गए तो भी उसका भी धन का वियोग हो गया तो दुखी हो गए कोई हानि हो गई तो इस प्रकार से कहीं न कहीं हानि या लोगों का अपना जिनको की जिनमें ममत्व है उनका हानि या नाश या उनका मरना जीना उनके कारण से उनको जो है हमेशा दुख ही होता रहता है सब जीवन दुखी दुखी जीवन व्यतीत होता है उनका अधर्म के मार्ग पर चलने पर और मानसिक विकार इस प्रकार के असंतोष इत्यादि मानसिक विकार हुए अशांत हुई बुद्धि की कठोरता हुई व्यक्ति में अहंकार देश पाखंड दम्भ ये सब जहाँ दुर्गुण मानसिक दुर्गुण होंगे उन्हीं के कारण से व्यक्ति दुखी नहीं रहे बस हाँ, वही सब दुख देते रहते हैं व्यक्ति को और स्वयं को दुख है तो अपने आप ही अपने मन से दुख दूसरा क्या करेगा ऐसे कहते हैं वर्णाश्रम धर्म आचार गए तात्पर्य कि वर्णाश्रम धर्म का आचार समाप्त हो गया कलयुग में जो है वो समय कुछ नहीं छोड़ा न धर्म का धर्म और न आश्रम धर्म ये दोनों ही तो इसी से जब कलयुग शुरू किया तब यहीं से साधु समय शुरू किया तो इस कलयुग में क्या हो गया था कि सबका वर्णाश्रम धर्म जो है वो व्यवस्था सबकी नष्ट भ्रष्ट हो गई न ब्राह्मणों का ब्राह्मण धर्म रह गया न क्षत्रियों का क्षत्रिय धर्म रह गया न अन्य आश्रम वर्ण वालों कोई अपने अपने वर्ण का कोई आचरण करते रह गए न स्त्रियों का धर्म न पुरुषों का धर्म सभी नष्ट भ्रष्ट हो गए आश्रम धर्म मैंने अब किस अवस्था में है अब गृहस्थ है तो गृहस्थ का क्या धर्म है मानव में किसका क्या धर्म है सन्यासी किसका क्या धर्म है जिनसे सब आश्रम से कुछ मतलब ही अरे साहब आश्रम कैसे हो सकता अरे साहब तो सारे जीवन वैसे ही रहना हो अगर जब मानव प्रति का वो गुण धर्म नहीं आए तो मानव प्रति कैसे हो गए सन्यासी के गुण धर्म नहीं आए तो सन्यासी कैसे हो गए तो फिर क्या होगा सारे जीवन वैसे ही बना रहे अपने अपने मन को अपने मनमानी ढंग से अपने जो कल्पना कर ली अपने मान लिया वही ठीक मान लिया समझ लिया बस ऐसी शास्त्र कोई मतलब शास्त्र में जीवन को चार भागों में बांध करके ब्रह्मचारी ग्रह बानकर से सन्यासी बना रखा है उससे कोई मतलब नहीं अपने बुद्धि लगाने में वो गलत है परिवार गलत है आसन गलत है ऐसे नहीं होना चाहिए हम जो लगावे रहते होना चाहिए ऐसे करके लोग जाकर अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं शास्त्र सम्मत बड़ा धर्म से कोई मतलब नहीं दंदान दया नहीं ज्ञानपनी ज्ञानपनी के मैंने ज्ञानपन मैंने उनकी जानकारी है इस बात की जानकारी नहीं है कि दान दया और दम ये सब क्या होते हैं ये तीन शब्द जो है एक साथ प्रयोग किए जाते हैं छांदे उपनिषद में कथा आती है कि एक बार जो है ब्रह्मा जी ने सभी लोगों को बुलाया तो देवता आ गए मनुष्य आ गए असुर आ गए सब इकट्ठे हुए ब्रह्मा जी ने कहा जाए सबको उपदेश देंगे हमारी आज्ञा का पालन करो सब समय हमारी शिक्षा क्या है कहा बताइए भगवान क्या शिक्षा भगवान का दा हम तमाम इतना टाइम नहीं है कि हम बड़ा दस से घंटे देते हैं एक अक्षर दा जाओ सब लोग पालन करो उसको मानो तो उसके मानो हुआ की देवताओं ने कहा कि हमें इंद्रिय शून्य नहीं है भोगों में बहुत प्रबल हम रहते हैं इसके कारण से हमारे लिए इन्होंने दम के लिए कहा इंद्रिय दमन करना चाहिए इंद्रिय निग्रह रखना चाहिए तो देवताओं ने कहा महाराज बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे इंद्रिय निग्रह करेंगे उनकी आज्ञा मान करके करेंगे मनुष्यों को देखा तो देखा कि धन धन संपत्ति धन संपत्ति पहले बैठे हैं उसको चाहे काम का हो चाहे न काम का हो बच्चे चाय छाती से लगाए बैठे हुए हैं अरबों करोड़ों रुपया है लाखों रुपया है जीवन में काम आने वाला नहीं तब भी छाती में चपकाए बैठे हैं छोड़ते नहीं है तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है ब्रह्मा जी हमसे ये कहते हैं भाई तुम्हारे पास भी धन आ गया तो इसका दान करो इसलिए दान है दान तो मनुष्य ने कहा अच्छा हम दान करेंगे दान करेंगे तो मनुष्यों के लिए ब्रह्मा जी की शिक्षा है दान करो देवताओं के लिए शिक्षा है तो इंद्रिय निग्रह करो विषय भोगों में लिप्त न हो और असुरों के लिए दया असुर लोगों के साथ में समस्या क्या ये दूसरे को पीड़ा पहुंचाने पर जब दूसरा व्यक्ति आया करता है बिजलाता है तब प्रसन्न हो जाता हाँ, कैसा मजा करता है ये आखिरी स्वभाव है छठी स्वभाव है तो उन्होंने समझा कि हम दूसरे लोगों को कष्ट बहुत पहुंचाते हैं तो उसके मैंने ब्रह्मा जी कहते हैं उनकी परम्परा दया अगर दया आ जाए किसी व्यक्ति के ऊपर तो फिर कोई व्यक्ति उसको पीड़ा न पहुंचा कष्ट न दे बल्कि अगर कष्ट में हो तो उसके कष्ट को दूर करे दया का लक्षण लेकिन निर्दय व्यक्ति जो है वो दूसरे को कटवचन भूल करके पीड़ा पहुंचा करके जब रोने लगे हाया करने लगे बिलुलाने लगे तब मजा आ ये आखिरी सुरा है इस सुना है तो ये तीनों कहते हैं कि इनका ज्ञान ही नहीं अब कलयुग में कौन जाने की दया क्या होता धन क्या होता दान क्या होता उनकी क्या महिमा है और किसके लिए कौन सा धर्म है क्या करना चाहिए इसकी कोई जानकारी नहीं <coughs> दंडान दया नहीं जान कनी और कैसे जड़ता परवंचन परवंचन जाति धनी और कैसे संकोच हो जड़ता आ गई जड़ता के मैंने तमोगुणी स्वभाव होने के कारण मूल बुद्धि और विचार करने की सामर्थ्य नहीं ये जड़ता परवंशक माने दूसरे को धोखा देना हम्म? दूसरे को धोखा धोखा देते हैं इस प्रकार <coughs> धनी मैंने बहुत ज्यादा दूसरे लोगों को बुद्धि में जड़ता भी बहुत है और दूसरे लोगों को धोखाधड़ी भी बहुत करते हैं वो समझते हैं कि हम दूसरे को धोखा देने कोई जान खड़े पाएगा <laughs> जान नहीं पा जान कर जाते हैं कि देखो धोखा दे रहा है चोरी कर रहा है ये सब जान जाते हैं कि हमसे कैसा व्यवहार कर रहा है लेकिन वो अपने आप को समझता है, है? अपनी बुद्धि की जनता के कारण से कि हम जो धोखा दे रहे हैं ये भला कौन समझ सकता है हमारी जितना होशियार कौन है हम कितना छपा के काम कर सकते हैं भला कौन दूसरा जान जाएगा ये सब उनकी जड़ता बुद्धि की जड़ता और उसके साथ पर बन सकता है दूसरे के प्रवंचना मैंने दूसरे के छलना तथा सभी के साथ में जाइए ये बहुत सत्य है और फिर उसके बाद में तन पोषक नारी मेरा सबरे संसार में सबके सब अपने शरीर का ही पोषण करने वाले तन पोषक बस एक काम क्या सारे जीवन शरीर का पोषण करते रहे काम किस लिए करते हैं जिससे कि खाने पहनने शरीर की रक्षा करने के लिए उपाय नहीं पेट भरे उसके लिए काम करते जो कुछ कमा कर चलाए उसके अपने शरीर का पोषण कर दिया शरीर को खिला दिया पिला दिया सुला दिया पहला दिया आराम करा दिया बस क्या करते रहते हैं बस शरीर का पालन करते रहते जीवन चला रहे हैं जीवन काट रहे हैं बस इतना ही एकमात्र काम जीवन काटते रहना जीवन चलाते रहना बस इतना ही काम जिंदगी का उसके बाद इस तो शरीर का कोई उपयोग नहीं शरीर प्राप्त हुआ इसको क्या कार्य किया जीवन में कुछ काम नहीं किया केवल शरीर ही को पोषण कर सकते कितनी बुद्धि है कहीं पोषक नारी मरा सगरे चाहे स्त्री हो क्या करो अपने अपने शरीर को खिलाते रहो खिलाते रहो भाई इतने ही मतलब काम जानते हैं दूसरा काम नहीं पता जैसे पहले कर चुके माता पिता बालकों बुलाए उधर भरे से धर्म सिखाओ बस वहीं से धर्म भाग चला माँ बाप अपने बच्चों को सिखा दो कि पेट भरने की विद्या सीख लो नौकरी कर लो कहीं व्यवसाय कर लो और कमा लाओ खा लो है हाँ? इसके आगे क्या इसके आगे कुछ नहीं बस यही सब कुछ तो सब लोग भी करते भी होंगे माँ बाप ने जब यही शिक्षा दी पेट पालते रहो तो वो भी अपने सारे जीवन पेट बिचारे पालते रहते हैं कमाते रहते हैं पेट पालते रहते हैं तन पोषक नार नरा सगरे और पर निंदक गे मो बगरे और दूसरों की निंदा करने वाले संसार भर में फैले पड़े मैंने कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो निंदा न करता दूसरे की निंदा करे अपने आप अपने दोषों की निंदा नहीं करें कि हमें ये दोष है ये दोष हमारा दूर हो जाए उससे बचने की कोशिश करें अपनी तरफ ध्यान नहीं देंगे अंतर्मुखी वृत्ति नहीं होगी अपने आप को नहीं देख सकते अपने को छोड़ करके बाकी सबको देखेंगे उनके सामने दोष दिखाई देंगे और उनकी निंदा भी करेंगे ये काम का परनिंदक जे जब जो परनिंदा करने वाले हैं बस वही सारे संसार में फैले पड़े यानी कहा भी देख लो दूसरे निंदा करने वाला मिल जाए सुन जालार काल कले मन कलयोग आगार बस अभी समापन होता है तब कहते हैं कि आभूषण कि सुन जालाल जालाल के मैंने जरूर ये जरूर सुनो जाल मैंने सर्प अधिक शत्रु सर्पों के शत्रु मैंने जरूर सुनो काल कल कलयुग का काल कहता है मल अवगुण आगार मल और दुर्गुणों का भंडार बस कलयुग में दुर्गुण दुर्गुण सब जगह दिखाई देंगे मल ही मल सर्वत्र दिखाई देगा और इतने दुर्गुण इतना लग दिखाई देगा लेकिन कोई उसको मानेगा नहीं अपने को कि हम दुर्गुण है दुर्गुण है और ये दूर हो तो हमको शांति विश्राम मिलेगा ये कोई नहीं चाहेगा इन्हें मन में लिप्त रहेगा दुर्गुणों में ही दूरे रहेंगे उनसे बचने की कोशिश नहीं करेंगे ऐसे ही कलिएगा अब दिनों बहुत कलियुग करे सुन प्रयास दिन प्रयास संस्कार बस अब यहाँ से बदल जाता है मामला कहते हैं ये तो सब लिए तो दोष हो गए समस्याएं हो गई मनुष्यों की सबकी बुद्धि इस प्रकार से हो गई लेकिन कहते हैं कलयुग में भाई जहाँ ये तो संसार ऐसा ही है जब चेतन जब जीव युग ये जितनी भी सृष्टि है जितनी भी ब्रह्मा जी कहते हैं उसमें सन्न जो वो हम्म, कैसे बनाई हो कि गुण और दोष को शान करके बनाई थोड़ा गुण लिए थोड़े दोष लिए दोनों को शाना खेती तो बनाई तो पनीर भी बनाया तो उसमें अब दोष ज्यादा हो गया उसमें प्रपोर्शन मात्रा में निन्यानवे प्रतिशत तो दोष ही दोष हो गए एक प्रतिशत उसमें गुण मिलाया तब जाकर के पनीर बना तो उसमें थोड़ा सा अच्छाई भी रही जरा सी थोड़ी सी अच्छाई भी उसमें कलयुग में तो क्या है कि दिन बहुत कलयुग करे दिन प्रयास निष्ठा पर तो उसमें जो है वो बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता मेहनत ज्यादा नहीं करती प्रयास मानी मेहनत बहुत मेहनत करो इस चीज नहीं करती कली के दोषों से छूटने का उपाय भी बड़ा सरल है बस इतनी भलाई होगी अगर कलियुग में भी उसी प्रकार अगर व्यक्तियों के जैसे सचिव वगैरह में जितना का परिश्रम करना पड़ता है वैसा कलियुग में करना पड़ता है तो तो व्यक्ति कर नहीं सकता व्यक्ति कितना असमर्थ कितना कमजोर मानसिक दृष्टि से शारीरिक दृष्टि ऐसा विचारा मनुष्य कभी भी निस्तार पाता तो पाई नहीं सकता इसलिए ये सरल उपाय करने के लिए इतनी छूट हो गई क्या कि प्रतियोग त्रेता द्वापर पूजा मकर योग तो ये तीन योगों में सतयुग में त्रेता में द्वापर में जब जहाँ पर भी करनी पड़ती थी पूजा मत और योग ये सब करना पड़ता था उसके स्थान में जो गति हो सुकल हरि नाम के कारण लोग वही गति कलयुग में भगवान का नाम जपने मात्र से हो सकती है भगवान का नाम लिखो भगवान की कथा बोलो बस यही करते रहो तो ये सारे दोष दुर्गो धीरे धीरे करके दूर हो जाए अब ये कथा कोई सुनता रहे सुनता रहे तो बार बार उसके चित्र में भी चले हुए जितने भी दोष दुर्गुण है उनके ऊपर प्रहार आता रहता है कथा में बार बार आता रहता है बार बार उसके ऊपर दुर्गुणों के ऊपर चोट पड़ती रहती है कुछ तो ही होते रहते गुणों को प्रोत्साहन मिलता रहता है जबकि धीरे धीरे करके जाने अनजाने में उसमें सदगुण आते रहते हैं जिसमें धीरे धीरे करके छूटते रहते हैं ये कथा में भी भगवान के नाम जपने में भी भगवान का स्मरण करने से भी ये सब कलयुग के जितने मल हैं उनसे दूर हो सकते हैं उनसे बचा जा सकता है <clears throat> ये तीन प्रकार के अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार की साधना है संसार सागर के पार होने के लिए अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार के साधन बता दिए प्रत्येक के महीने हो गया सतयुग फिर उसके बाद में त्रेता युग आया उसके बाद में द्वापर आया द्वापर के बाद में कलयुग आया तो उसने सतयुग में क्या है सतयुग के लिए योग है द्वापर के लिए उसमें त्रेता के लिए मत है और इसके लिए द्वापर के लिए पूजा है उल्टा इसमें क्रम जो दिया उल्टा दिया पूजा मकर जोड़ ये काव्य में है काव्य का नियम है कि जहाँ क्रमशा दिया जाता है तो उल्टा क्रम दिया जाता है एक का संबंध जब दूसरे से जोड़ा जाता है तो जैसे गद्य में लिखा जाएगा तो फिर जो पहले होगा अगर तीन बातें लिखी गई तो उनका तीनों का तीन परिणाम दिए जाएंगे तो पहले का परिणाम पहले दूसरे का परिणाम दूसरे का तीसरे का परिणाम तीसरे का लेकिन कविता में जो होता है तब इनका इनका क्रम उल्टा करके देते हैं पहले का सबसे आखिर में देंगे बीच वाले का बीच में देंगे और अंत वाले का पहले इस प्रकार के ये काव्य नियम है तो इसीलिए कहते हैं कि उनका प्रतियोग का क्या है योग योग साधना जो वो हो सटीक के लिए और यज्ञ जो है वो हो त्रेतायुग के लिए और पूजा जो है ये हो ये जाकर के लिए जाकर में भगवान की पूजा करते <clears throat> भगवान पूजा प्रधान हो लेकिन कलयुग में क्या तो पूजा भी नहीं बन सकती पूजा की सामग्री भी व्यक्ति दरिद्री व्यक्ति होंगे कि तो पूजा की सामग्री भी नहीं जुटा सकते क्या पूजा करते तो आज भाई बैठे बैठे अपने स्थान पर भगवान का नाम लेते उसमें कोई हरा लगाना फिर करी कुछ नहीं उसमें लगना लगाना कोई खर्चा नहीं है कोई और परेशानी की बात नहीं है यज्ञ करो तो तमाम सामग्री इकट्ठी करो का विस्तार फैला पंडित बुलाओ ये यज्ञ करो वो देवताओं का आह्वान करो जैसे डालो वैसे डालो कितना खतरा कहा कि हो गया त्रेता के लिए यज्ञ थी तब तो थी अब आजकल तो भगवान का नाम ज्ञान वो तो सत्य की बातें हम्म? धर्म ज्ञान सत्य ज्ञान हाँ ये सब बातें जो थी वो कहते वो तो सत्य की बातें अब कहाँ ज्ञान ज्ञान भरा कहाँ उसकी बुद्धि निर्मल बुद्धि अब ज्ञान को ही ज्ञान समझ लो ज्ञान को भी विकृत कर दोगे अपनी इस बुद्धि में लोग कहते हैं जैसे ज्ञान का परम पवित्र वस्तु है गाय के दूध की तरह अगर कोई मैले पात्र में गाय का दूध दिलाओ तो दूध फल जाए खड़ा हो जाए तो ऐसे करके जिसकी भी पहले से बुद्धि में विकास तमाम भरे हुए हैं दुर्बुद्धि पहले से तो है आसक्तियां नाना प्रकार की हैं वैराग्य आया नहीं विवेक जागृत नहीं हुआ अब वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान सीखने लगा और उसका अभ्यास करने लगा तो वो उसका वो ब्रह्म ज्ञान भी उसकी बुद्धि में आकर के विकृत हो जाए बिगड़ जाए उल्टा रूप उसका धारण कर लो जैसे पहले बता चुके हैं बस उसी प्रकार का फिर आ जाएगा उनकी जाने जन्म सभी प्रबर आंख दिखाओ नहीं दांत ऐसा ज्ञान होगा अज्ञान ज्ञान का अहंकार हो जाए और फिर आंख दिखाएंगे डांटेंगे तब उसके बाद ज्ञान को ज्ञानी व्यक्ति को दूसरे को डाकता है लेकिन वो ज्ञानी ऐसे हो जाएंगे जैसे ब्रह्म ज्ञानी होंगे तो दूसरे भी काम कर बताएंगे तो ऐसे ये करेगी जो सब ज्ञान विकृत हो जाता है कलयुग में ऐसे इसलिए ज्ञान भी यज्ञ भी कलयुग में यज्ञ भी दिन विज्ञान के रूप नहीं कर सकता तो यज्ञ में बड़ा नियम तमाम कितने हजारों नियम उसके हर बात बात का नियम है उन नियमों का पालन नहीं कर सकते और कोई यज्ञ करना चाहे तो संभव नहीं करिए यज्ञ कर यज्ञ जितने भी यज्ञ प्राय करते हैं कलयुग में तो चलो भाई कबीर ने भी किसी ने यज्ञ कर दिया तो, तो बहुत बड़ा काम उसने किया इसलिए भले ही मान लो कि भाई उसका कोई अपराध उसको न हो लेकिन शास्त्रों में कहा गया कि अगर यज्ञ को अगर ध्यान पूर्वक नहीं करता है तो उसका दोष लगता है गीता में भी दूसरे धर्म भगवान ने कह दिया उसने यज्ञ कर्म इस प्रकार का है उसको विधान पूर्वक होना चाहिए और विधान पूर्वक कर नहीं सकते कभी शारीरिक अशुद्धता मानसिक अशुद्धता साधनों की अशुद्धता नियम का पालन नहीं कर सकते ये सब व्यक्तियों की कमी होने के कारण से यज्ञ करना साधारण काम नहीं तो इसलिए कहते हैं कि जो कबीर में केवल भगवान का नाम भगवान की कथा बोलो भगवान का नाम लो यहाँ पे कहते हैं कि कबीर हरि नाम पे पावन लो हरि नाम से भगवान का नाम लो बस उसी से उद्धार होने वाला हरि नाम के आगे चल करके देखते हैं तो उसमें कथा भी बोल देते हैं हरि नाम में सब समझ लेते भगवान का नाम भी भगवान का स्मरण भी भगवान की ये गाथा भी है भगवान के चरित्रों का अवतार की कथा उनकी लीलाओं की कथा परमात्मा किस प्रकार का उसके लक्षण को धर्मों का वर्णन और श्रवण दूसरा सुनावे तो उसको सुनना स्वयं दूसरे को सुनाना बस इस प्रकार का ये है हरि स्मरण के नाम से हरि नाम से तात्पर्य कितना इस प्रकार से इसी से उद्धार व्यक्तियों का होना है नान्या रघुपति हृदयसमदीये सत्यं बदा च भवानसिनान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुं भवनिर्भराम्ने कामादिदोषरहितं कुरु श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम go go